यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक आमाल किए हैं और अपने रब की तरफ आजजी इख्तियार की है यही लोग जन्नत वाले हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं